राम सुनाय दुख कानन का जीवन तरु जिमे जोग बैरा पलक नयन फणि मणि जहि भाते जोग बहि जननी सकल दिन राती ते यैरत निपिन पदचारि फल मूलय हारि दिग दिग कै के अमङ्गल भयसि प्राण प्रिय तम प्रतिकूला श्री जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई मैं धिग धिग अघ उदधि जगा सब उत्पात भयऊ जय शिला कुल करे कर सिजेव विधाता साय दोह कमोहे के कुमाता सुनि स प्रेम समो धावन सायदो नाथ करिय कत बादी विषादु राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम हे यह निर्दोषो दोष विधि बामही मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है धिक्कार है जिनके कारण ये सब उत्पात हुए विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया यह सुनकर निषाद राज प्रेमपूर्वक समझाने लगा हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है दोस्तों तो प्रतिकूल विधाता को है विधि बाम के करने कठिन जही मातु के बाबरी दहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु शारद सराहन रावरे तुलसीन तुमसो प्रीतम कहत सो किए परिणाम मंगल, जानि अपने आनिय धीरज अंतर अंतर जामे राम सकुच प्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आय मन प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठिन है जिसने माता कई को बावली बना दिया उसकी मति फेर दी उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे तुलसीदास जी कहते हैं निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए का वचन सुने उर बास चरे सुमीरत रघुबीरा यह सुधि पाए नगर नर नारे, चले विलोकन आरत पर दक्षिणा करी करहि प्रणाम देही कै कहे हे खोरी निकामा भरी भरि बारे विलोचन देहे बाम विधात दूषण देहि सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई कई को बहुत दोष देते हैं नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं एक सराह भरत सरे हो कौ कह निपति निबाह हो निंदहि आप सराहि निसारा को कहि सक विमोह विसारही दही विधि रात लोग सब जागा भाभीनुसार गुदारा नावा गुरहि सुनाव चढ़ाए सुहाए नई नाव सब मातु चढ़ाए कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया दंडचारि मह पारा उतर भरत तब सब ही संहारा प्रात क्रिया कर मात पद बंद गुरु ही सिरनाय आगे किए निषाद गण जिन्हें कट कुचला चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी